يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر हमने नरक के ये कार्यकर्ता फरिश्ते बनाए हैं और उनकी संख्या को इनकार करने वालों के लिए आजमाइश बना दिया है ताकि किताब वालों को यकीन हो जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़े और किताब वाले और ईमान वाले किसी संदेह में न रहें और दिल के बीमार और इनकार करने वाले ये कहें कि भला अल्लाह का इस अद्भुत बात से क्या मतलब हो सकता है इस प्रकार अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट कर देता है और जिसे चाहता है मार्ग दिखा देता है और तेरे रब की सेनाओं को स्वयं उसके सिवा कोई नहीं जानता और इस नरक का उल्लेख इसके सिवा किसी उद्देश्य से नहीं किया गया कि लोगों को इससे नसीहत हो كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر कदापि नहीं कसम है चांद की और रात की जबकि वो पलटती है और सुबह की जबकि वो रोशन होती है ये जहन्नम यानी नरक भी बड़ी चीजों में से एक है इंसानों के लिए डरावा तुम में से हर उस व्यक्ति के लिए डरावा जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले रहन है दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे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 कि उसका डर रखा जाए और वो इस योग्य है कि डर रखने वालों को क्षमा कर दे